यदि पड़ गए खजूर पड़ गए अरे पड़ गए जारी सोया हाँ। any that जामे

जादन और अब कहिल मोको छोड़े छोड़े दुल्ला तो अब कर छोड़ दर सिंगड़ी जाया छोड़ है जोरा छोड़ दे अरे अब छोड़ूंगा बरे हर गज तो को नाम God. हर काटे जाड़ी के माय माय मर तो बदशा को माथो रे काट तो तो जी ये जी

ने पहुंचो रे आरे मर तंबू मैं पहुंचो रे आके और तर तो कोई दिन और तय सुन रे मर जा കോഴിതന ശരമയ ഓ സുണലരി മാതാമ്യരാജ്വാ കാട്ടെ കരി മെരിയേരി മാതാ കരി മണ মাতা কবে ছোট না में जा करके और बादशाह झाड़ी में रोक लियो अरे बादशाह तने दुल्ला धाड़ी को शेर लूटे तो कछु थोड़ी सी उच्छब की जापत तो मेरी भी खा जा तो बादशाह के नौरंग बादशाह के नीचे जच एक भाई ना तो चलता चलता और या के भी जापत खा ले तो बादशाह का सारा तंबू तंबू झाड़ी में गिर गया दुल्ला धाड़ी अपना सिंदल शहर को गयो तो सारा सिंदल की शहर की लूट पाई दुल्ला धाड़ी घोड़ा क्यों चुके बोले बोले भाई घोड़ा सारा शहर की लूट होगी ना तू ही भाई है और तू ही मेरे बंद है दुल्ला धाड़ी से घोड़ो खेवा ले गो अब जितने मेरी पीठ पे जमे गो जितने तो को बाप को बहर लिवा दूंगा चारू ने मारूंगो चारू टाप सो पचवाए मुख सो जाऊंगो चबाए छट्टा पे वार तेरो होएगो तो दल देखते ही भग जाए तो दुल्ला धाड़ी घोड़ा का सवार हो गया घोड़ा खेपे लगेगा भाई रूस करके मेरे और बगल में तू ताज न मार दे जैसे मेरा शरीर में आग लग जाएगी तो मैं तो एकदम तू लेके उठ जाऊंगा दुल्ला धाड़ी ने घोड़ा के मारो रसकर के बगल में ताज नो घोड़ो उठ गयो पौन शराब भाई जार घोड़ो झाड़ी में उतरियो और वहां जा करके तुरकन को जांच पड़ी तो तो भाई तो बदल में मच गई ले जो बैरी को सो खा जो बैरी आप दल में आ लियो तो भग्गी पड़ गई दल के माए भाई दुल्ला धाड़ी की माता को तम्बू में जांच पड़ी हाँ तेरो जायो और अब दल का बीच में आ गयो दुल्ला धाड़ी की माता तंबू तू कहवा लगी बोले बेटा देख नौकर और ये चाकर है इन तो मत मार जो भाई बैरी को माथो लीजो काट दुल्ला धाड़ी ने घोड़ो दियो तो जार बैरी गागा सु बादशाह घेरो या ने जाए बादशाह मोंडा में घास ले गयो अब के मो को बकस दे दुल्लो धाड़ी कहवा लगो बादशाह अब बक्सूंगो हरगज ना जादर बैरी ने दुल्ला धाड़ी ने घेरो खांडा पे हाथ दुल्ला ने खांडा पे हाथ घेरते घेरते बादशाह को माथो लियो काट बादशाह को माथो काट के और धर के और दुल्ला धाड़ी वापस आया तो तम माता का नाया अरे माता आज तेरो जायो जानेगी ना आज देख बैरी को माथो काट लियो आज बाप को बैर ले लियो दुल्ला की माता खेबा की बोले बेटा बादशाह को तो माथो काट लियो पर जो तेरो बैरी है काको भैरू सिंह वो तो भाग्यो जा रही हो अरे माता काका भी घेरूंगा तो दुल्ला धाड़ी कैसे एक काका जार घेरे है और कैसे एक काको में होंडा में घास ले है बेटा आपके मुंह तो हो रही बकस दे और कैसे आगे दुल्लो धाड़ी हो जू चले है और रतन धन तन खोदे और तो बद चलनी मैं काई चूक तो पड़ गए हर की करने में दान खोदे और बद चलने मैं नंगो झाड़ो ले लेगा तेरा सारा तन को काई कर गो पारा यार जोड़िया

छाया बेट मर मेरा धोई दे बेटा जय रे जय करे अरे रो क्यों रे झाड़ी में जारे जारे जा दो का को रे रो चोरा जाड़ी का बीच मर धाड़ी ने कोई दन बीच में का को ले जोरा 个夜来来，我那穿的那别让大的，别大穿的那心爱的个，咱俩穿的那满塞的，看着那穿的那。हर जिंदा गुण बोलूंगा नाये नाय तुम्हारा अब कर सर मोहन छोड़ दर मेरा दुल्ला बेटा छोड़ दर अबरा बकसूंगो माता जय जाया ब्यावन साजी खजूर ब्यावन हर बेटी निका कर दो गोर भेरान में पीला हाथ हाथ बेटा मेरा अब कर मोसर रया

ದ್ಯಾವಲರಿ ಪಣೆಯರಿ ಮಾತಾ 呀呀这列个呀这空里道，呀这那列个呀哎，他叫来生的来三来，三来么的大家那说不三来不三呀，听到生的来，三来那来半年。

人家我到了山里来，我叫家我来呀。जार के क्यों अरे काका बेरी अब जाबा दूंगा तो कौन में घास ले गए अरे बेटा अब कहे ले मोको छोड़ दे भाई ओ जो तो सु बदी करवा को मैं हर गज नहीं अरे बोले काका अब नहीं छोड़ूंगा तो दुल्ला धाड़ी ने काका का हाथ पकड़ के अपनी मसक मसक छड़ा के और दोनों हाथ बांध के अब माता का जब माता खेगी जब तो तेरो माँ तो काट लूंगो और जब माता नु खेगी एक बेटा जिंदो छोड़ दे तो भाई काका जिंदो छोड़ दूंगा तो काका का दोनों हाथ बांध कर माता का तम्बू में लिया और माता कने खड़ो कर दियो री माता आज तो तेरो जायो मोको जानेगी ने जो बाप को बैर ले लियो अरे माता तू खे तो काका बैरी को माथो लू तेरे आगे काट दुल्ला धाड़ी की माता कहवा लगी रे बेटा भाई बहन को ब्याह दिखा दे आज तू को माथो काट ले तो बहन को ब्याह ना है देखेगो जावर पीछे चाया को माथो काट ले दुल्ला दाड़ी का नीचे चचकी बोले माता जब तू ऐसी कह रही हो तो आपको बहन को ब्याह दिखा दूंगा अरे माता अब तो ना लजायो ने मैंने तेरो दूध बैरी सु बदलो ले लियो मैंने आज बादशाह को माथो काट लियो और आज बाप को बैर मैंने ले लियो तो दुल्लो धाड़ी सारा लश्कर को लेकर के और सिंदल शहर में आकर के सारो शहर सिंदल अपनो सुबस बसा लियो दुल्ला धाड़ी ने शहर सुबस बसा के और दोनों बहनों को ब्याह रोप दियो तो कैसे कि दुल्लो धाड़ी बहन को ब्याह करे है और कैसे काका को ब्याह दिखावे है और कैसे दुल्लो आगा सु यहाँ सु बड़े कया भगवान ना शरणनाथ गाँव है यही जानियो हमारा अमर रजनी को नाव नाव मरद फुलड़ा रे कुमलाव जीव बास नर दाड़ी जुग में बासना सुन लहरी माता मेरा

माय माता में बेवर जाओ वर दिल्ले सर में पड़ यज हर पकड़ी रह दिल्ली के माए माए मरदा सतर रे धर लाए कोई दन धर लाए कर लिया दिल கேட்டு மரதா சாத்தரையாயோர பதசகி உரம தர சேந்தலகு ஜய ஜன जय बताया हाँ, सुन ले रे माता मेरा रे ज्वा ज्वाहंगा God. Uh, அமரதனி கோணாவ நாங்க Yeah, yeah, yeah. व्याव मर गोटी कोवर दे जोर काला डर मर दायन कोई दन डर हर बहन को रो चोर बरी ने तो ब्याव ब्याव ਕਾਲਾ ਦਰਮ ਰਦਾਲਿਨ ਕੋਈ जगा और सुई सुई पागल टके रहे डाडा अब बूंदी के हाडा सुई सुई पागल टक रहे डाडा आ गए गद बूंदी के हाडा अब मेरे सिरदार ठाकर का तो जाजन सज गए हरे लपेटा डे कर में दौलत के अब भाला नंदी चमक रहे मेरे सरदार जिंदा கணிராலராஜ வேளாப்பார பாலம் 가요. yeah. को ब्याह करो तो दुल्ला धाड़ी ने घोड़ो खोलो गजब रठान तू भाई झटपट हो गयो दिल्ली को त्यार कमर कटा रोजन पे बांकड़ो जिन का गड़ में ढड़कई स्वर्ण तरवार भाई दुल्लो धाड़ी दिल्ली को चल दियो तो हाथ में भालो दुल्ला के चमक तो जावे दिल्ली को चालो जाओ जहर दिल्ली में दुल्लो धाड़ी ने दिल्ली की कर ली जा करके लूट भाई सत्तर पकड़ी बादशाह की तुरकड़ी महलन में तो बादशाह की सत्तर हुरमन को ले आयो दुल्लो धाड़ी तो हम्म। दुल्लो धाड़ी शत्रुघ्न ने पकड़ के और सारी दिल्ली की लूट करके और सिंदल शहर को लिया तो जाकर के दुल्लो धाड़ी माता बोले गुरी माता सत्र बीबिन पे दबवा ले महलन में तेरा पांव आज मैंने बदलो ले लियो मेरा बाप को बेरी बादशाह तो छोड़ो हर गज ना माता सत्र बीबिन को महलन को बैठी बैठी को ब्याह दिखवाऊंगो और इन पर बैठी बैठी नित का तेरा पांव दबवाले तो दुल्ला धाड़ी की माता का सत्र बीबी पांव दाबे दुल्लो माता अब बहन को करूंगा मैं ब्याह तो दुल्ला ने काला माल को बहन को टीको दे दियो टीको तो जाकर के मोती सिंह तो वहां दुल्ला ने टीको दियो तो जाकर और वहां ब्याह दुल्ला का वहां तो मोती सिंह वो सज गया तो गडबूंदी का हाडा सुई सुई पाग लटक रहे डाडा और आ गए बूंदी के हाडा तो गाडो हट जाए पर हाडो नहीं हटे तो दुल्ला धड़ी ने सारा सिरदार भेड़ा हो गया सारा सिरदार पे कमर कटारा बांकड़ा जिनके गढ़ में ढड़के सोरण तरवार भाई हाथी के होते दूल्हा चल दिया जिनने भाई सिंदल की ले ली गैल तो कैसे सिंदल शहर में आवे हैं और कैसे अलेमा सलेमान का ब्याह हुए हैं और कैसे एक सरवण नाथ और भगवान नाथ गावे हैं जी का घर में काए घाटो मारा भागन सार मिले बाटो राम जी का घर में काए घाटो भागन का सार मिले बाटो राम जी का घर में काए घाटो हमारा धनी का नाम மரதா புல்லடாய குமலாவ ஜீவ வாசனரதாயி ஜுகம வாசனரம சாதி खजुर बाजना अमर धनी को नाम ना जीववती बास नर में साजी खैर न हो आजार सब सिरदार सब सिरदार ಕೊಯ್ದನ ಸರಮ ಡಾಡೆ ಲಪೇಟ ಖಾವ ರಾಜನಕ್ಕೆ ದೂಂದನ ಕಮ್ಮ ಮಾಯ ಮಹಂಗಯ என்ன கரலட்டகரிரமணியாயி ஏலட்டகரிரம சாதி கதுரலட்டகரி சுழலர மரதா ஜாப ஜாப மரதா ரங்கக்கே வரதா ஜமர ஆடாக்கே பிச்சகாயே

Yeah, yeah.